तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे ओ... जिज्ञासा समाधान में एक प्रश्न है महाभारत में राजसूय यज्ञ की एक घटना है आवाज पढ़ाई राजसूय यज्ञ की कोई एक जना इस पे हमेशा ध्यान रखा करो और इधर ही कोई स्थान इधर ही रखो और दो तीन जनों को और को बता के रखो ओ अभी ठीक है ओ तो जिज्ञासा समाधान में ये प्रश्न था महाभारत में राजसूय यज्ञ में एक नेवले की कथा आती है जिसके शरीर का एक भाग स्वर्णिम हो गया बताया गया है इसका क्या प्रयोजन है तो जैसी वो कथा सुनी जाती है ये वास्तविकता तो प्रतीत नहीं होती है घटना वास्तविक तो प्रतीत नहीं होती लेकिन कुछ समझाने के लिए ये कथा प्रस्तुत की गई कथा में ऐसा बताते हैं कि जब यज्ञ हो रहा था रासूय यज्ञ जिसमें बहुत सारी चीजें दान दी जाती हैं देते हैं यज्ञ में बहुत दान होता है तो वहां एक नेवला आया और वहां भूमि में और इधर उधर राख में यज्ञ की राख में या जहां भी लोटपोट होने लगा तो लोगों को हुआ कि ये कुछ विचित्र घटना है तो नेवले से पूछा भाई ऐसे क्यों कर रहे हो तो नेवला बोला कि मेरा कुछ शरीर तो सोने जैसा बन गया है स्वर्णिम सुनहरा और कुछ और बाकी है मैं सोच रहा था कि मेरा पूरा शरीर स्वर्णिम बन जाए सुनहरा बन जाए तो लोगों ने पूछा भाई आपका शरीर कैसे बना स्वर्णिम ठीक है आधा बना हुआ है आधा नहीं है तो क्यों बना कैसे बना ये तो लोगों ने उसने लेवले ने कहा एक घटना सुनाई उसने जैसी है वह महाभारत में कैसी है कुछ संशोधन हो तो बता देना जैसा मैंने सुना उसके हिसाब से बोल रहा हूं उसने कहा कि मैं एक ब्राह्मण के घर गया ब्राह्मण या कोई भी एक व्यक्ति था वहां उसने एक अतिथि को भोजन कराया था वो ब्राह्मण कई दिन से भूखा था जितने भी दिन हो पांच दिन सात दिन कई दिन से भूखा था तो एक अतिथि घूमते हुए आ गया इनको इतने दिन भूखा रहने के बाद में कुछ भोजन मिला था तो उसने अपने लिए अपनी पत्नी के लिए बच्चे के लिए ऐसे बांट के रखा होगा खाने ही रहे थे कि अतिथि आ गया भिक्षा मांगी मैं इतने दिन का भूखा हूं वो ब्राह्मण जितने दिन भूखा था उससे अधिक भूखा वो अतिथि था अधिक दिनों का ये पांच दिन का था तो वो सात दिन या दस दिन का भूखा था उसने कहा कि मैं इतने दिन से भूखा हूं मेरे को कुछ भोजन दीजिए तो ब्राह्मण और परिवार भी कई दिनों से भूखा था पर उसने उस अतिथि को एक ने अपना भोजन दिया उनको थोड़ा थोड़ा होगा वो तृप्त नहीं हुआ तो दूसरे का भी ऐसे करके चार या जितना पूरे परिवार का भोजन दे दिया उस अतिथि को अतिथि ने भी खा लिया और जो भी आशीर्वाद देना होगा वो दिया होगा अतिथि ने फिर वो अतिथि अपने हाथ धो रहा था तो कुछ अन्न उच्छिष्ट रहता ही है हाथ में रहता है मुंह पे रहता है कुल्ले करते हैं तो बोले जहां वो हाथ धो रहा था वो पानी के छींटे मेरे ऊपर गिर गए मैं वहीं पर ही था उससे मेरा शरीर सुनहरा हो गया पर पूरा तो नहीं हो पाया छीटे ही पड़े थे तो मैंने मेरी समझ में आया कि इस ब्राह्मण ने जो दान दिया है दान का वो अंश अन्न का वो अंश इस जल में था अथवा अन्न कण नीचे गिरे हो वहां वो लोटा हो जो भी घटना है कि खाना खाते हुए जो कुछ अन्न आदि नीचे गिर गया उसमें वो लोट लिया तो उसका शरीर सुनहरा हुआ कुछ तो नेविले ने सोचा कि ये पुण्य के कारण से हुआ है दान के कारण से हुआ दान का पुण्य है तो इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है इतने बड़े बड़े दानी आएंगे बहुत दान दिया जाएगा तो वहां तो बड़ी आसानी से मेरा शरीर स्वर्णिम हो जाएगा सुनहरा हो जाएगा इस आशा में मैं यहां आया था और यहां मैं बहुत जगह लोटपोट के देख लिया मेरा शरीर स्वर्णिम नहीं हुआ ये कथा हुई तो कथा तो काल्पनिक है स्पष्ट है नेवला बोलता नहीं है और ऐसे किसी अन्य कण से शरीर सुनहरा होता नहीं है ठीक है दान के प्रताप से दान अच्छा था पुण्य वाला था या कष्ट में दिया था जो भी उसका महात्म्य था ऐसा तो होता नहीं है इसलिए इस कथा को हम जो का तू यथार्थ में तो ले नहीं सकते और यदि यथार्थ माना भी जाए नेवले की बातचीत को तो काल्पनिक मान लेंगे चाहे लेकिन इसको अगर वास्तविक माने तो आज तो ऐसा नहीं हो सकता या तो प्रयोग करके देख सकते हैं इसमें <laughs> ये तो <laughs> कोई बात नहीं है लेकिन ऐसा <laughs> हमारी हिम्मत भी नहीं होगी कि हम ऐसा प्रयोग करें क्यों क्योंकि हमें पता है कि ये असंभव है ये सृष्टि क्रम के विपरीत है कोई कितना भी बड़ा दानी हो बड़ा हो या तो ऐसी कठिनाई में दान देता हो जैसे उस ब्राह्मण ने दिया था अथवा पुण्य की कमाई का हो जो भी आप इस घटना से ले हो ऐसा जो भी दानी अपने को समझता हो वो ऐसा प्रयोग नहीं करेगा कथा तो बहुतों ने सुनी है प्रयोग करके भी देखा हो क्या पता किसी ने जिनको विश्वास हो इस पर तो संभावना इसकी नहीं है कि आज ऐसा हो जाए आज नहीं हो सकता तो तब भी नहीं हुआ होगा सृष्टि क्रम वैसे भी ये इस बात की स्वीकृति नहीं देता तो इस कथा को तो हम काल्पनिक ही मानेंगे किंतु ऐसी कथाएं जो असंभव होते हुए भी कही जाती हैं उसका प्रयोजन कुछ ना कुछ तो होता ही है कहानी दी है उन्होंने किसी बात की प्रशंसा के लिए अथवा किसी की निंदा के लिए निंदा मतलब आलोचना के लिए किसी बात को बताने के लिए कि ये चीज गलत है अथवा ये चीज अच्छी है इसको बताने के लिए जिसको शास्त्रीय भाषा में कहते हैं अर्थवाद क्या बोलते हैं अर्थवाद बोलते हैं उससे बस कुछ अर्थ को तात्पर्य को कहना चाह रहे हैं प्रशंसा करना चाह रहे हैं कुछ विशेषता बताना चाह रहे हैं वास्तव में वैसा नहीं होता है सोमदेव जी को माता जी ने बहुत दूध पिलाया होगा हम्म? चोटी तो नहीं है उनके लेकिन बाल बहुत बड़े हैं घने हैं बचपन में ये नहीं कहते हैं। बच्चे को माँ कहती है कि दूध पी ले तेरी चोटी बड़ी हो जाएगी शिखा हालांकि आजकल शिखा रखते नहीं है लोग लेकिन जो रखते भी थे जिस समय शिखा को प्रशंसनीय माना जाता था जिन लोगों में वहां माँ यदि बच्चे को ये बोलती है तो ऐसा होता है ठीक है कुछ तो पोषण होगा तो वो होगा लेकिन फिर भी हम ऐसा तो नहीं कह सकते भी दूध ज्यादा पिएगा तो तेरी चोटी जल्दी बड़ी हो जाएगी <laughs> ऐसा कह सकते हैं कुछ पोषण होगा वहां तक ठीक है लेकिन फिर भी हम उसको ऐसा तो नहीं जोड़ते कि सोमदेव जी दूध अधिक पीते हैं इसलिए इनके बाल ऐसे हैं ऐसा तो नहीं कह सकते दूध तो और भी कई जने बहुत पीते हैं लेकिन बाल सबके नहीं होते कुछ पैतृक होता है परंपरा से होता है लेकिन कहा जाता है ऐसा ये क्यों कहा जाता है संभव न होते हुए भी किसी बात की प्रशंसा के लिए दूध की प्रशंसा के लिए दूध पियो अच्छा है अब बच्चा और कुछ तो समझता नहीं है उसको मान लो शिखा का है कि नहीं मेरी चोटी बड़ी होनी चाहिए देखो किसकी चोटी बड़ी है बच्चों को शौक होता है देखने के लिए नापते हैं एक दूसरे की किसकी बड़ी है ठीक है तो उसको उसकी रुचि के अनुसार कोई बात कह दी अब ये संभव नहीं है लेकिन फिर भी कहानी तो कही जाती है इन कथाओं को ऐसे हम झूठ बोल करके भी हटा भी नहीं सकते क्योंकि कहने वाला भी इसलिए नहीं कह रहा है कि घटना ऐसी की ऐसी थी वो ऐसा नहीं कहना चाह रहा है जैसे कि योग दर्शन में भी आता है जब धर्म एक समाधि होती है अंतिम स्थिति आती है तो क्या कहते हैं ऐसी विचित्र स्थिति है कि अंधे ने मणि को बीन दिया जैसे सुई में धा, धागा डालें छेद में ऐसे बारीक छेद हो और उसमें अंधे ने धागा पिरो दिया अंधा कैसे फिर सकता है लेकिन योग दर्शन व्यास भाष्य में लिखा है और जिसके अंगुलियां नहीं थी उसने उसकी माला बना दी और जिसके गर्दन नहीं थी वैसे तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलता है <laughs> वाह उसके गले में माला पहना दी गई उसको अभिपूजित किया गया असंभव है ना तो क्या वो झूठ बोल रहे थे क्या उन्हें नहीं पता था ऐसी घटनाएं क्यों कही जाती है शास्त्रों में योग दर्शन में एक जगह और आता है कि शारीरिक बल अधिक होता है या मानसिक बल अधिक होता है मानसिक बल अधिक होता है बोले मानसिक बल के बिना अगस्त ऋषि समुद्र को कैसे पी जाता ऐसे तो पी नहीं सकता था चूलू भर के बाल्टी भर के कितना ही पी लो समुद्र को कैसे पी सकता है लेकिन वो घटना आती है ऐसी सुनी जाती है हैं? जंगल जला दिए जीवों से मुक्त कर दिया पूरे को ऐसी घटनाएं असंभव है समुद्र को कोई पी नहीं सकता है लेकिन वहां कहा जा रहा है मानसिक बल इतना बलवान इतना अधिक होता है शारीरिक से इतना महान होता है कि उसके बल पर समुद्र को भी पी जाए आदमी तो कितना भी मानसिक बल हो पीने के लिए शरीर तो चाहिए कहा समाएगा वो पानी शारीरिक बल नहीं है समाएगा कहा वो असंभव है बिल्कुल लेकिन फिर भी कहा गया अनार्स ग्रंथों का नहीं ये अर्स ग्रंथों की बात है अब इन घटनाओं को देख के हम ये तो नहीं कह सकते कि झूठ है इन्होंने गलत लिख दिया झूठ नहीं गलत लिख दिया है अच्छा कहने वाले को भी पता था कहने वाले क्या वास्तव में ये मानते हैं कि ऐसा हुआ था या होता है वो भी नहीं मानते उनको भी पता है लेकिन फिर भी उन्होंने वो बातें लिखी हैं क्यों वो कुछ कहना चाहते हैं अर्थवाद मात्र है वास्तविकता नहीं है वो प्रशंसा मात्र है मानसिक बल की प्रशंसा है धर्म एक समाधि कितनी अद्भुत होती है आश्चर्यजनक चीज हो जाती है जो असंभव दिखने वाली चीज भी संभव हो जाती है बस इसको बताने के लिए लिखा कि अंधा भी बींद देता है असंभव दिखने वाली बात भी संभव हो गई इतनी विचित्र अवस्था है वो तो इस तरह की बातें घटनाएं जब शास्त्र में आती हैं उसको हमें कैसे लेना तो होता है अर्थवाद मानते किसी चीज की प्रशंसा करना चाहते हैं बस वो संकेत हम वहां से ले लें कि इसका प्रयोजन क्या था इस कथा का अब इस कथा को देखिए इस कथा के आधार पर कोई कहे कि महाभारत भी काल्पनिक है क्योंकि उसमें ऐसी काल्पनिक कथाएं लिखी हुई है नहीं बोला कहा बोलता है ऐसा कहा होता है ठीक है कथा बीच में आ गई लेकिन ये कथा अर्थवात मात्र है अब देखें इसमें क्या प्रशंसा की गई उस व्यक्ति ने जो पांच दिन या जितने दिन भूखा था और कुछ भोजन मिला था कितना भूख लग रही होगी कितनी आवश्यकता थी लेकिन अपने से अधिक भूखे व्यक्ति को देख करके उसने भोजन दे दिया इसकी महत्ता बताई गई दूसरे के लिए कष्ट सह करके भी देना स्वयं कष्ट उठा करके भी दूसरे के सुख का ध्यान रखना उसका हित करना उपकार करना यही वहां पर महत्ता है और उधर राजसूय के अंदर उससे कई गुना ज्यादा लाखों करोड़ों गुना पता नहीं कितने गुना अधिक दिया गया मूल्य की दृष्टि से तो भोजन भी कराया गया ब्राह्मणों को भोजन हो रहा है ऋषियों को भोजन हो रहा है इतना सब कुछ हो रहा है लेकिन ऐसी तड़प में किसी ने दिया हो अभाव की अवस्था में दान दिया हो ऐसा वहां पर नहीं है राजा महाराजा लोग थे तो बड़े बड़े सेनापति और अधिकारी रहे होंगे उन्होंने दिया होगा बहुत सेठों ने दिया होगा धनिकों ने तो इस घटना से केवल इतना सा ही हमें अर्थ लेना चाहिए कि जिसके जीवन जीवन जिसका जा रहा हो और उस समय हम उसके लिए कुछ चीज देते हैं तो वो अरे स्वयं कष्ट सह करके भी स्वयं के लिए इतना आवश्यक होते हुए भी जब हम दूसरे के लिए दे देते हैं तो ये बड़ा दान हो गया अब इसको उस दृष्टि से भी देखिए पिछली बार जो हमारी चर्चा चली थी आपके सामने एक विषय रखा था कि जो दान दिया जाता है उसका फल दान की मात्रा पे निर्भर करता है अथवा प्रतिशत पे निर्भर करता है गुणवत्ता पे निर्भर करता है उसके ऊपर ये प्रश्न है उस प्रसंग में तो मात्रा की दृष्टि से तो ब्राह्मण का दान बहुत कम था फिर भी उसको बड़ा बताया गया ये प्रतिशत की दृष्टि से अधिक है वैसे अगर यूं देख लें तो और कष्ट की गुणवत्ता की दृष्टि से ये अधिक अच्छा है इसलिए इसकी प्रशंसा मात्र की गई है अब अगर हम यू देखें इसका पाप और पुण्य से संबंध नहीं जोड़े अभी इस घटना में ऐसा कुछ नहीं है कि उस ब्राह्मण का जो कमाया हुआ था वो पुण्य का कमाया हुआ था और राजाओं का कमाया हुआ था वो अपुण्य का था इसलिए ऐसा हुआ ये कोई संकेत इस घटना में नहीं है त्याग कष्टपूर्वक किया जा रहा है ये केवल यहां पर संकेत है तो इसमें ऐसी स्थितियों में दान की महत्ता बढ़ जाती है इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं युग दर्शन में भी जो बात आई उस दिन भी ये रखी थी आपके सामने कि ऋषि महर्षि महात्मा योगी इनके प्रति किया गया जो उपकार है और दीनहीन दुखी वृद्ध आश्रित भयभीत ऐसे व्यक्तियों के प्रति किया गया जो उपकार है वो शीघ्र फल देने वाला होता है अंतर होता है उतना ही इस घटना से भी हमें लेना चाहिए हम ले सकते हैं इससे अधिक नहीं अब दूसरे ढंग से जो उस दिन भी बात हुई थी ईमानदारी से दो व्यक्ति दोनों व्यक्ति ईमानदार हैं मेहनत से कमा रहे हैं लेकिन ये एक व्यक्ति पांच दिन से भूखा क्यों है ये पांच दिन से भूखा क्यों है कोई कारण होगा वो इतना पुरुषार्थी नहीं है इतना धन संचित नहीं रख पाया है कोई तो कारण होगा परिवार में जब चार जने हैं तो क्यों भूखे हैं वो ऐसी स्थिति कैसे आ गई किसी ने धन चुरा लिया कर लिया वो अलग बात है लेकिन सामान्यतः यदि वो कमा ही नहीं रहा है कम कमा रहा है और इसलिए उसके पास अन्न नहीं है भिक्षा मांगता है वो भी और दूसरा मेहनत करके धन रखता है अपने पास में अब उसके पास यदि अतिथि आता है और वो अतिथि को वो भी भोजन करा देता है और स्वयं भी भोजन करता है क्योंकि उसके पास है तो इससे उसके देने का पुण्य तो कम नहीं हो जाता संस्कारों के स्तर पर मैंने बात उस दिन भी रखी थी कि संस्कारों में बहुत अंतर पड़ेगा क्योंकि त्याग ये कष्टपूर्वक कर रहा है और वो कष्टपूर्वक नहीं कर रहा है केवल उसका अंतर आएगा नहीं तो जो दान किया गया उसकी तो जिसने जितना दान किया उतना उसका पुण्य मिल जाएगा मिलना चाहिए उसका सिद्धांत के आधार पर एक और बात इस प्रसंग में समझें कि यहां इस घटना में तो वो व्यक्ति अतिथि अधिक दिन भूखा था यदि बराबर होता तो किसको देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए उसके लिए शास्त्र में व्यवस्था है यदि दोनों एक जैसे हो लगभग दोनों की जान जा रही हो और थोड़ा सा भोजन है उससे एक ही बच सकता है तो हमें दूसरे को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए तो उसके लिए व्यवस्था है कि यदि सामने वाला अपने से अधिक योग्य है योग्यता अर्थात धर्मात्मा है विद्वान है समाज का अधिक कल्याण करता है तो अपना छोड़ करके उसको दे देना चाहिए विशिष्टे आत्मत्याग वैशेषिक का सूत्र अपने से विशिष्ट व्यक्ति हो तो उसको दे देना चाहिए विशिष्ट आत्मत्याग स्वयं का त्याग कर दे उसको बचा ले और समान हो तो आत्मत्याग पर त्याग होगा या तो अपना त्याग कर दे या उसका कर दे कुछ भी कर ले एक ही बात है लेकिन पहले आत्मत्याग लिखा है वहां बराबर में ऐसा है और ही ने अगर हमारे से कम योग्य है योग्यता का मतलब फिर वही अपने से कम धार्मिक है कम विद्वान है समाज का कम कल्याण करता है धर्म की स्थापना के लिए कम प्रयत्नशील है तो अपना भोजन उसको नहीं देना चाहिए मरने की स्थिति है तो अपने को बचाना चाहिए वो मरता है तो मरने देना चाहिए कठोर लगता है क्रूर लगता है विशिष्ट को देना तो हमें समझ में आता है कि ठीक है दे दिया बराबर में भी कुछ भी है लेकिन अपने से कम योग्य है तो क्या करना चाहिए तो ये शास्त्र का नियम है उसके लिए अपना त्याग नहीं करना चाहिए अपनी जान पहले बचानी चाहिए जैसे कि राजा यदि मर जाए युद्ध में तो पूरे देश की पराजय होती है अधिक हानि होती है और उसकी जगह पांच दस पचास सौ सैनिक मर जाएं तो या एक सैनिक हो और एक राजा हो एक को मरना है तो राजा को क्या करना चाहिए स्वयं मरना चाहिए सैनिक को बचाने के लिए या स्वयं को बचाना चाहिए और सैनिक को मर जाने देना चाहिए सैनिक को मर जाने देना चाहिए जब वहां हमें स्वीकार हो जाता है ऐसा ही यहां पर लगता है दान हर किसी को नहीं दिया जाता दान किसको दिया जाता है महर्षि ने बहुत बातें लिखी हैं तो भले ही हम भूखे हैं दूसरा भी भूखा है तो दान में हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे देना ही है और जो स्वयं का नाश करके दूसरे को देता है वो ज्यादा अच्छा है ये सब जगह नहीं घटेगा अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति को दे रहे हैं तो ये ठीक है बराबर वाले को दे रहे हैं तब भी चलेगा लेकिन अपने से कम योग्य व्यक्ति के लिए दे रहे हैं तो ये फिर ठीक नहीं है वैदिक धर्म की दृष्टि से तो इस विषय में और किन्हीं को पूछना होता तो। हम्म। वो अलग प्रसंग की बात है आत्मार्थम पृथ्वी त्यजे या आत्मार्थ पृथ्वी त्यजे अपने लिए यानी आत्मा के लिए आत्मा के कल्याण के लिए अगर पृथ्वी भी छूट रही है तो छूट जाने दें अपना कल्याण अवश्य करें आत्मा का आध्यात्मिक कल्याण और ये जो देने की प्रक्रिया है इसमें आध्यात्मिक कल्याण ही है उसको करना चाहिए यदि पृथ्वी छूटती है यानी चक्रवर्ती सम्राट बोल, बोले पृथ्वी को छोड़ने की बात कौन करेगा सामान्य व्यक्ति थोड़ा ना करेगा उसके पास कितनी सी पृथ्वी है है ही नहीं है तो बहुत थोड़ी सी है <laughs> पर चक्रवर्ती सम्राट बोल सकता है ये हालांकि सब जमीन उसकी भी नहीं होती है मीमांसा में भी एक प्रसंग आया कि राजा क्या चीज किस चीज का दान दे सकता है राजा वो चक्रवर्ती राजा है वो भी और नियम बता रखे हैं वो हर किसी की जमीन का दान नहीं कर सकता जैसे कि युधिष्ठर ने राज्य को लगा दिया या दाव पे लगा दिया ऐसे राजा कर नहीं सकता उसका अधिकार नहीं है जिस पे उसका अपना स्वामित्व है उसी को दे सकता है पर कल्पना करें चक्रवर्ती राज्य है और उसको देने का मतलब पूरी पृथ्वी को देना होगा पूरी पृथ्वी पर एक छत्र राज्य है उसमें फिर भी संभव है कि चलो उसने पृथ्वी को छोड़ दिया किसके लिए आत्मा के लिए आत्मा कल्याण के लिए इसमें देने की बात नहीं है छोड़ने की बात है केवल अर्थात आत्मा का कल्याण इतना महत्वपूर्ण है कि पूरी पृथ्वी भी जाती हो तो चली जाए लेकिन आत्मा का कल्याण नहीं जाना चाहिए ठीक है ये बताने के लिए श्लोक है वो अलग प्रसंग में रखो सुन लीजिए दूसरे को हम देखने संस्कार बराबर वालों में दूसरे को मारेंगे नहीं कोई चलो कोई ऐसी स्थिति भी है कि नाव में <laughs> दो जने बैठे हैं और एक को नाव से नीचे गिरना है और बाहर अजगर हैं या मछलियां हैं वो खा जाएंगी उसको ऐसा हो सकता है ना भी एक ही रोक सकता है नहीं तो डूबेंगे दोनों जाएंगे एक को नीचे उतार घेरना है वो आप जो कह रहे हो उसको घटाने के लिए बोल रहा हूं ऐसा भी है तो भी इनका कहना है कि आत्मा पे बहुत बुरे संस्कार यानी अपने पे बहुत बुरे संस्कार पड़ेंगे कि हमने दूसरे को मरने दिया इसलिए पहले का समान के अंदर आत्मत्याग कर लो अपना त्याग कर लो मना थोड़ा किया है लेकिन यदि कोई आत्मत्याग नहीं भी करता है और पर त्याग हो जाने देता है तो भी कोई संकोच नहीं होना चाहिए मन में क्योंकि वो जिंदा रह करके धर्म की पालना करेगा धर्म का विस्तार करेगा लोगों को सुख देगा हित करेगा इसलिए ये भोगी व्यक्ति की बात नहीं है जीवन बचाने के लिए नहीं इसका गणित अलग है उसको ये पता है कि मैं अगर उसके लिए मर भी गया तो मेरी कोई हानि नहीं होगी मेरे को बहुत बड़ा पुण्य हो जाएगा उसमें भी वो लाभ ही देख रहा है और यदि दूसरा मर रहा है वो जीवित है तो जीवित रहते हुए काम करेगा धर्म की पालना करेगा धर्म का विस्तार करेगा अन्याय हटाएगा अज्ञान हटाएगा काम करेगा और उसके मन में यह भी नहीं है कि दूसरा मर रहा है तो उसकी हानि हो रही है उसे पता है वो मेरे लिए मर रहा है मेरे को उसने कहा कि नहीं आप जीवित रहो मैं जाता हूं उसकी हानि नहीं देख रहा है ये ये अलग दृष्टि है अलग गणित काम करता है तो उसे पता है इसका पुण्य बन रहा है हमें कब दुख होता है जब हम सोचते हैं मैंने अपने को बचा लिया यानी मैंने अपना तो हित कर लिया और दूसरे का अहित कर दिया हमारा सोच यही है हमारा गणित यही काम कर रहा है बस अथवा मैंने उसको जिंदा कर दिया और खुद मर गया तो मेरी हानि हो जाएगी ये सोच रहा है तो ऐसा तो है नहीं इसलिए वहां मन में कोई संकोच नहीं होता है ऐसी स्थितियों में जिसने इन सिद्धांतों को समझ रखा है स्वीकार कर रखा है उसके मन में ऐसा कोई वितर्क नहीं उठेगा उसको एक ही बात लगेगी समान में स्वयं का त्याग करो या दूसरे का त्याग कर दो ठीक है और किन्हीं को पूछना है सत्येंद्र जी हम्म हम्म। नहीं जाएगा इनका प्रश्न है कि जो जीवित रहा और उसने पुण्य कार्य किए क्या उसका पुण्य जो मर गया है उसको मिलेगा नहीं मिलेगा उस समय मरने वाले ने जो दान किया उसका उसको पुण्य मिले तो वो मिल जाएगा बस बाकी उसने इसके लिए जो त्याग किया है उसको ईश्वर की व्यवस्था से पुण्य मिलेगा और इधर जो जीवित रहा अब ये जो पुण्य कर्म कर रहा है इसके कर्म इसके अपने हैं इसका फल इसी को मिलेगा कर्म फल का सिद्धांत है जिसने किया उसी को फल मिलेगा दूसरे को नहीं ऐसा यहाँ करेगा इस तरह से पुण्य में भी घटाना चाहिए ये आप कहना चाह रहे हो अयोग्य व्यक्ति को दान देने से पाप लगता है क्यों क्योंकि वो उसका दुरुपयोग करेगा ये एक मोटे तौर पे जो बात कही जाती है इसके आधार पे ये सोच रहे हैं इस घटना में भी इस तरह के दान में भी बिल्कुल यू ही सोचना है ये कथन ठीक है कि यदि हम दुष्ट व्यक्ति को दान देते हैं और उस धन का वो दुरुपयोग कर रहे हैं ठीक है दुष्ट व्यक्ति को हमने दान दिया इसका पाप हमारे को लगेगा पुण्य नहीं लगेगा पुण्य किस बात का होता है हम अच्छे व्यक्ति को दें जिससे धर्म बढ़े सुख बढ़े वहां पुण्य होगा और हमने ऐसा दिया जिससे अंधविश्वास बढ़ रहा है अन्याय बढ़ रहा है अत्याचार बढ़ रहा है तो हमारा जो देना है वो गलत हुआ इसलिए हमें उस गलत देने का पाप लगेगा देने का पुण्य कुछ नहीं बनेगा वहां पर पुण्य की बात छोड़िए पाप लगेगा हमारे को और जो जिसने उस धन को प्राप्त किया और गलत कार्य कर रहा है उस उन गलत कार्यों का पाप उसी को लगेगा जो कर रहा है देने वाले को नहीं देने वाले को गलत देने का पाप लगेगा और उसका दुरुपयोग जो कर रहा है अन्याय अत्याचार कर रहा है उसका पाप उसको लगेगा इसको नहीं लगेगा ऐसे ही देने में भी है ऐसे ही पुण्य में भी देने में और पाप वाले में भी अच्छे बुरे दोनों जगह एक ही बात ऐसे ही घटे हम्म। तो नहीं मिलेगा दान का पुण्य क्यों मिलता है क्योंकि हम उससे किसी का भला करते हैं जब हमारे देने से किसी का हित होता है धर्म बढ़ता है सुख बढ़ता है न्याय बढ़ता है तब ही हमारे को पुण्य होता है ईश्वर की आज्ञाओं का पालन होता हो ईश्वर की आज्ञाओं का वर्धन होता हो तो तदनुरूप व्यवस्थाएं बनती हो ऐसा जो भी कार्य किया जाएगा उससे पुण्य लगेगा और ऐसा हमारा दान जिससे वेद विरुद्ध बातें बढ़ रही हों उससे हमें पाप लगेगा ठीक है देने में नहीं लेने में भी ऐसा ही है यदि कोई व्यक्ति वेद विरुद्ध बातों को रोकने के लिए दूसरों का धन छीन लेता है दिया नहीं है लिया है उसने जैसे एक योग्य राजा दुष्ट व्यक्तियों से धन ले लेता है तो धन लेते हुए भी उसको पुण्य लगेगा तो देने में पुण्य है या लेने में पुण्य है दोनों कर्मों में दोनों में पुण्य हो सकता है लेकिन चूंकि प्राय देने से ही पुण्य होता है इसलिए वो कहा जाता है कुल मिलाकर के हमारे किसी भी कर्म से धर्म की वेद की वृद्धि होती है ईश्वर की आज्ञाओं का पालन होता है लोगों का हित होता है तो हमारे को पुण्य मिलेगा और इससे विपरीत तो पाप लगेगा पाप पुण्य के लिए यह है केवल देना मात्र पुण्य का कारण नहीं होता है चतुर्थ और इनका प्रश्न ये है कि जिसको हम दे रहे हैं वो कुछ अच्छे काम भी कर रहा है लेकिन वो बहुत से वेद विरुद्ध काम भी कर रहा है तो ऐसे में देने वाले को पाप लगेगा या नहीं लगेगा आपका प्रश्न हो गया है देने वाले का ये कर्तव्य है कि वो देख करके देवे उसकी उसको कष्ट होना है प्रयत्न करना चाहिए लेकिन देने वाला उस झंझट में नहीं पड़ना चाहता ना एक बार कहा देखेंगे कहा परीक्षण करेंगे कहा जाएंगे इतनी मेहनत होगी दे देता है किसी को दूसरी बात यदि हमें पता भी है कि ये व्यक्ति ये कार्य गलत करता है और ये अच्छा करता है हमें पता है और हम देने वाले को कह रहे हैं कि भाई मैं इस अच्छे कार्य के लिए आपको ये धन दे रहा हूं और वो स्वीकार भी कर रहा है कि ठीक है और वो अच्छे काम में लगा भी देता है तो कोई दोष नहीं वो ठीक चल जाएगा हाँ हमें ये पता है कि लेने वाला इस अच्छे कार्य के लिए ले रहा है लेकिन लगाएगा गलत कार्य में विश्वास नहीं है और फिर भी देता है तो इसको गलत लगेगा तो पाप लगेगा समझे तो किसकी छीनने की छीन करके धर्म कार्यों में लगाना धर्म कार्यों में लगाना मैंने नहीं बोला था मैं केवल इतना सा उदाहरण दे रहा था कि देने में ही पुण्य नहीं होता है लेने में भी पुण्य होता है क्योंकि उसने कर्म ऐसा किया है और वो लेके क्या करता है अच्छा ही लगाएगा हाँ उसमें भी पुण्य हो सकता है अधिकारी का हर कोई नहीं ले सकता ये तो ठीक है अधिकारी का कार्य है और कभी कभी सामान्य व्यक्ति भी अधिकारी हो जाता है स्थिति विशेष में नहीं तो अधिकारी का ही काम है हर व्यक्ति कोई दूसरे से छीनने लग जाए ऐसा नहीं हुँ? हम्म? कोई मांस खाता हो हम कहें कि ये तो मांस खाएगा तो छीन के हम रख लेंगे अभी नहीं चल सकता ये हम नहीं ले सकते उसका इतना तो कर्म करने का अधिकार उसको भी है अपने परमात्मा ने भी दे रखा है उसको कर्म करने का अधिकार गलत भी कर सकता है अच्छा भी कर सकता है पर हाँ राजाओं और इनको विशेष अधिकार है कि यदि उससे समाज को विशेष हानि हो रही हो तो उसका धन छीन सकता है और वो लेता हुआ भी पुण्य का भागी बनेगा ठीक है तो इतना ही रखते हैं बाकी प्रश्न आगे लेंगे मतलब